और अगर हम फरिश्ते ही को पैगंबर बनाते तब भी उसे किसी मर्द ही की शक्ल में बनाते और उनको फिर हम उसी शूबे में डाल देते जिसमें अब मुब्तला हैं